ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता की प्राप्ति होती वेदांत श्रवण करने के लिए योग्यता की प्राप्ति होती अंतकण शुद्ध होने पर अंतकण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म उपासना उपासना आवश्यक सगुण ब्रह्म उपासना करने के लिए आगे प्रकरण तो सगुण ब्रह्म ईश्वर की उपासना करने के पहले ईश्वर की सिद्धि निश्चय ईश्वर ऐसा है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान दृढ़ निश्चय होने पर उसका चिंतन होता है निश्चय करना भी उपासना है चिंतन करके ईश्वर है ऐसे निश्चय दृढ़ एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा सबके अंदर बाहर सर्वांतर्यामी सर्वनियामक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऐसे दृढ़ निश्चय होने पर उसका चिंतन उपासना होती है इसलिए श्रुति स्मृति प्रमाणत है तो भी अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं क्योंकि श्रुति स्मृति से प्रतिपाद्य अर्थ में दृढ़ निश्चय होता है तर्क के द्वारा श्रुति स्मृति में कहने पर भी कोई उसको अर्थवाद कह देते स्तुति के लिए कह दिया पूर्व के लोग कहे कर्म को ही ईश्वर कह दिया कर्म फल देने वाला उसको ईश्वर कह करके जिस लोक में ईश्वर को ही होता है राजा आदि होते हैं इसी प्रकार कर्म होए समर्थ है उसको ईश्वर कह दिया स्तुति में तात्पर्य अर्थवाद ऐसे शंका निवृत्ति के लिए ये कर्म फल नहीं दे सकता है जड़ है उसे भिन्न कोई स्थाई है जो कर्म को जानता है समय पर फल देगा ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मानना चाहिए तो इसके पर चारवाक मत के लोकायतिक मता अभिप्राय उद्भाव्य दूसरी भूताश्रयमिति चेन साधनत्वात् कि कर्म आत्मा में रहेगा तार्किक लोग मानते हैं वेदांत मत के अनुसार तो अंतकण में रहेगा अदृष्ट अंतकण के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास तादात्म अध्यास करने से अंतकण के धर्म को आत्मा में मानते हैं तार्किक लोग अंतकण में सुख दुख इच्छा ज्ञान आदि है वो आत्मा में कल्पना करते हैं क्योंकि अंतकरण के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास होता है जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है जल के कंपन आकाश में आरोप करते आकाश हिल रहा है अंतकरण के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास भ्रम होने से अंतकरण के धर्म आत्मा में सुख दुख इच्छा ज्ञान ये सब अंतकरण की वृत्ति परिणाम है तो भी आत्मा में दिखता है मानते हैं क्या तार्किक लोग भी तो उसमें कर्म करने पर अदृष्ट आत्मा में सम रहेगा संबद्ध होकर के तो फल कैसे मिलेगा फल देने के लिए कौन देगा तो, तो अंतकरण कर्म जड़ होने से स्वयं फल नहीं दे सकता है आगे पूर्व पक्षी कहता आत्मा में नहीं आत्मा तो कोई स्थायी पदार्थ नहीं तो पूर्व पक्षी बौद्ध मत आया क्षणिक विज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला होगा तो अभी कर्म करते समय जो रहा विज्ञान फल भोगते समय विज्ञान अलग हो गया कर्म कोई करेगा अलग फल कोई भोग करेगा अलग इसमें दोष आता है अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश जो फल भोग करेगा विज्ञान जिस समय उसने कर्म नहीं किया था नहीं किया हुआ कर्म फल भोगेगा अकृत अभ्यागम और जो कर्म करने वाले जिस समय कर्म करता है उस समय नष्ट हो गया आगे फल भोगते समय नहीं रहेगा तो कृत विप्रनाश क्या हुआ कर्म उसको फल भोगना नहीं पड़ा वो कर्म नष्ट हो जाएगा दूसरे को फल देगा एक कर्म करेगा उसका फल दूसरा भोग करेगा ये तो अनुचित है इस मत से खंडन होने पर बौद्ध मत क्षणिक विज्ञान उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं वह हो नहीं सकता है प्रतिभिज्ञा होती है जो बाला अवस्था में मैं था अभी वृद्धावस्था में हूँ स्वयं घट प्रतिभिज्ञा प्रमाण है कहीं प्रतिभिज्ञा भ्रांति हो जाती है इसके मतलब नहीं जहाँ-जहाँ प्रतिभिज्ञा सब भ्रांति ऐसा नहीं प्रतिभिज्ञा प्रमाण है भ्रांति भी है तदेवम इदम औषधम यहाँ तो ब्रह्म है संयम दीपकलिका के सादृश्य को लेकर के कहा गया किन सोयम घट में वही घट यहाँ है वो घट नष्ट हो गया दूसरा घट बन गया यह सामने घट है देखा थोड़ी देर का देखा वही घट फिर थोड़ी देर बाद वही घट पानी पास में रखे पीते थोड़ी देर बाद पिया वही पानी वही लोटा अब कहेंगे प्रतिषण उत्पत्ति नाश ये कहाँ दिखता है ये मत निरस्त होने पर लोग आए कहते यहाँ भूत में रहेगा अदृष्ट कर्म करेगा ऐसे चार भाग के लोग को कोई कर्म जन्य अदृष्ट आगे फल देगा ऐसा नहीं मानते पृथ्वी जल तेज वायु चार भूत उसे भूत सब हो जाता है भूताश्रयम इति चेन्न साधनत्वात् सिद्धांति कहता है वो तो साधन है हे भूत कर्तृक्रियाया साधन भूतानि भूतानि क्रिया काल अनुभूत व्यापाराणि समाप्तो च हलादिवत कर्त्रा परित्यक्तानि न फलम कालांतर कर्तुम उत्सहन्ते कर्तृक्रियाया सा कर्ता में कर्ता जो क्रिया कर्म करेगा कर्ता जो कुछ कर रहा है जो कुछ कर रहा है तो उसका साधन है भूत भूत कैसे साधन भूत का परिणाम होकर के तो देह इंद्रिय आदि बना तो शरीर इंद्रिय रूप से परिणत भूत उसी के द्वारा ही कर्म होता है करता चाहे जो कुछ करता है भूत के परिणाम देह इंद्रिय आदि उसके द्वारा कर्म होता है ये साधन है क्रिया का साधन भूतानि साधन रूपाणि साधन भूतानि तो साधन रूप है भूत भूत बाहर जो भूत पर्वत मिट्टी पत्थर आदि नहीं वो स्वयं सर्रा इंद्रियाकार से परिणत होकर के वही भूत साधन है शरीर के द्वारा इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा कर्म होते हैं क्रिया काल अनुभूत व्यापारानी जब कर्म करता है अनुभूतः व्यापार यही ते अनुभूत व्यापार व्यापाराणी तानि अनुभूत व्यापाराणी भूतानि व्यापार होता है उसमें शरीर इंद्रिय आदि में कर्म होता है और जब समाप्त हो गया कर्म समाप्तो च हलादिवत कर्तरा परित्यक्तानि जैसे हल खेती में खेत में कृषक हल करता है काम कर लिया बाद में हल को छोड़ दिया बल हटा दिया अपने घर में चला गया इसी प्रकार कर्म समाप्त होने पर हलादिवत कर्तरा परित्यक्तानि कोई कर्म करते हैं उसके बाद सर इंद्रिय जो व्यापार को बंद करके रह गया फिर अन्य कोई कर्म करेगा तो अन्य व्यापार करेगा जो व्यापार पहले करता है उसको छोड़ देता है परित्यक्ता नहीं ऐसे शरीरेंद्र आदि सब भूत परिणत है भूतों का परिणाम शरीरेंद्र आदि वो फल देगा स्वयं भूत में कर्म रहेगा अन्य काल में फल देगा न फलम कालांतर कर्तुम उत्साहते अन्य काल में फल देना संभव नहीं समर्थन नहीं होते हैं क्योंकि जड़ है चेतन के द्वारा प्रेरणा के बिना केवल जड़ कोई कर्म कर देगा ऐसा नहीं होता है नहीं हलम क्षेत्राद विहीन गृहम प्रवेश प्रवेशयति हल लंगलादि जमीन से धान को घर में ले आएगा ऐसा नहीं होता है भूत कर्मणोश्च अचेतनत्वात् सतप्रवृत्तेन उपपते भूत जड़ है और कर्म भी जड़ है सत चेतन है ही नहीं चेतन अन्य कोई चेतन प्रेरणा करने पर उसमें कर्म होता है स्वयं अचेतन होने से अपने आप प्रवृत्ति नहीं हो उसी जड़ में सत प्रवृत्ति अनुपपति सत चे जहाँ रथ आदि में चेतन के द्वारा रथ चलता है अपने आप नहीं चलता है सत प्रवृत्ति नहीं होती है वायु वदति चेत पूर्व पीछे कहता है चार भाग क्यों वायु चलता है वहाँ कोई चेतन थोड़ी चलाता है अपने आप वायु चलता है वायु जैसे जड़ होने पर चलता है भूत पृथ्वी जल तेज वायु वायु चलता रहता है इसी प्रकार जड़ में कर्म क्रिया हो जाए सत प्रवृत्ति हो जाए इति चेत सिद्धांतिकता न असिद्धत्वात् वायु अपने आप चलता है कैसे निश्चय हुआ चलता है ठीक है किंतु अपने आप चलता है कोई नहीं चलाने वाला कैसे निश्चय होगा तो उस पूर्व पीछे कहेगा कौन चलाता है आप चलाते हो क्या वायु को कभी पंखा से हला हिला सकते नहीं लाएंगे तो भाई में भाई चलेगा पंखा नहीं चलेगा तो भाई कभी चलता है नहीं चाहते दरवाजे खिड़की बंद करना पड़ता है ठंडी के समय भाई आ जाती तो कहते वहाँ भी हम सिद्ध करेंगे कोई चेतन है जहाँ जड़ में प्रवृत्ति होती है रथ आदि में देखा गया जड़ में प्रवृत्ति चेतन पूर्विका तो रथ में रथ चलने लगा तो समझे कोई लोग खींचने लगे अथवा अश्वादि खींचने लगे इसी प्रकार जड़ में प्रवृत्ति होती तो कोई चेतन है वहाँ भी कोई चेतन है दिखता नहीं तो ईश्वर वहाँ कल्पना करेंगे ईश्वर की इच्छा बिना चेत जड़ में प्रवृत्ति नहीं होती वायु भी अपने आप चलता है निश्चित सिद्ध नहीं है उसको दृष्टांत नहीं दे सकते दृष्टांत देना जो उभय सम्मत हो वायु में भी विवाद है वो कहेंगे कोई नहीं अपने आप चलता है आस्तिक क्या कहेगा वायु अपने आप चलेगा वो अभी कोई चलाने वाला है दृष्ट नहीं तो अदृष्ट हो ईश्वर हो देवता हो अथवा वायु देवता स्वयं कोई देवता है जो चलाते हैं वहाँ भी कोई चेतन है असिद्धत्वाद वायु अपने आप चलता है सिद्ध नहीं है नहीं वायु मत सत्य प्रवृत्ति सिद्धा वायु जो चितिमत नहीं चेतन नहीं अपने आप वायु चलता है सत्य प्रवृत्ति उसमें होती है ऐसा सिद्ध नहीं निश्चित नहीं है कोई प्रमाण से निश्चित नहीं हाँ आप शंका करते हो वायु अपने आप चलता है लोग भी कोई कोई कह देते हैं किंतु कोई चेतन के बिना चलता है वायु वायु में प्रवृत्ति होती है से निश्चित नहीं है क्यों निश्चित नहीं होता है वायु तो चलता है हम देखते सब लोग देखते तो अनुभव करते रथ आदिषु अदर्शनात् हेतु देता है सिद्धांति रथ आदिषु अदर्शना स्वी नहीं रथ आदिश स्वदर्शनात् रथ रथ कहीं स्वी में इकार है तो काट देना रथ आदिषु अदर्शनात् रथ दिखता नहीं अपने आप प्रवृत्ति नहीं दिखती है अपने आप कहाँ रथ चलता है इसलिए जड़ में अपने आप नहीं हो सकता है ये चार के मत तो अत्यंत काली भूत से वो सब हो जाएगा ठीक नहीं चेतन के बिना चेतन के बिना पृथ्वी जल तेज वायु मिल जाने से यदि चेतन हो जाता है मध्य शक्ति मदिरा शक्ति के समान तो बाहर मिट्टी है पानी है जल है वायु है गर्म सूर्य किरण सब मिल जाने पर वो भी चलने लगे तड़ा पानी में जहाँ है अभिजीव हो जाए ऐसा नहीं होता है इसलिए चेतन मानना चाहिए आगे टीका में अभी मीमांसा का मतलब पूर्व मीमांसा पूर्व मीमांसा में आधुनिक कर्म मीमांसा का नाम मतम उद्भावयति कर्म मीमांसा का पूर्व आधुनिक प्राचीन मीमांसा और यही पूर्व मीमांसा में भी कुछ प्राचीन मत कुछ आधुनिक मत है उनका मत कहते हैं उद्भावयति शास्त्रात् कर्मण एवं चेत शास्त्रम ही क्रियाया क्रियात फलस्थितिमा नैश्वरादे स्वर्गो काम यजित इत्यादि मीमांसक लोग कहते शास्त्र प्रमाण है कर्म से फल शास्त्र कहता है शास्त्र प्रमाण है शास्त्रात् कर्मण चेत कर्म से ही फल शास्त्र से निश्चय होता है शास्त्र में क्रियात फल सिद्धि मह शास्त्र क्या कहता है कर्म से फल सिद्धि कर्म से फल मिलेगा स्वर्ग आदि कहता है शास्त्र न ईश्वरादेश ईश्वरादेह ईश्वर कोई अदृश्य कोई दूसरा कोई देवता ये नहीं ऐसे कहां शास्त्र में आया शास्त्र कहता है स्वर्ग काम योजित स्वर्ग जो चाहता है वो याग करे याग करेगा तो याग फल जन्य फल स्वर्ग मिलेगा और कौन स्वर्ग देगा याग कर्म ही फल देगा स्वर्ग काम योजित तो इतने से सिद्ध होता है याग स्वर्ग साधन तो याग में स्वर्ग साधन शास्त्र कहता है वही फल देगा स्वर्ग फल देगा टीका में यजते इति आख्यात पदार्थ सामान्यन समित साधनम याग प्रतीयते यजेत ये त में आख्यात तिंगन्ते याग करे पूरा में मासकल उसमें भावना कहते हैं शाब्दी भावना अर्थव्यान बहुत प्रकार कहते हैं तो भी विधि लिंग में सुन करके कोई प्रवृत्त होता है ये मुझे अयम माम प्रेरयति विधिलिंग लोट आदि में विधि निमंत्रण आदि अर्थ है विधान करता है यजेत याग करे विधान करता है कोई को मानते विधान किया गया इसलिए हम करेंगे पूर्व मीमांसा कहते विधान किया गया इसलिए करना है प्रभाकर कहता है विधान किया गया करो और ये करने से कोई लाभ हानि विचार नहीं करना किंतु लोक में कोई विधान करता है ये करो बड़े लोग कहते पिता माता कहते गुरु कहते ये काम करो पढ़ो उधर जाओ ये काम करो जल माने घट माने गा माने तो कहते तो प्रवृत्त तो होकर लोग करते हैं सर्वत्र कहीं भी कुछ प्रवृत्ति होती है स्वयं आप कुछ करना चाहते हो जो कुछ करने पर आपको कुछ लाभ होगा वही कर्म करेंगे इष्ट साधनता ज्ञान होने से प्रवृत्ति होती है इष्ट का साधन भोजन सामने रखा गया कि हमारा इष्ट है भोजन से तृप्ति उसका साधन भोजन भोजन करने के प्रभु तो होते हैं और यदि सामान्य विषय है खाने के लिए कोई प्रभु तो होता है इष्ट साधन है क्या इष्ट साधनता विषय में है नहीं होने से भोजन प्रभुति नहीं होती अब पेट भर भोजन कर लिया पेट खराब है अच्छा भोजन ला कर दिया खाओगे वहाँ इष्ट साधनता ज्ञान नहीं जिस समय इष्ट साधनता ज्ञान उस समय कोई नहीं दे मांग कर खा लेंगे भूख लगती तो खाना पड़ेगा पानी पीते इष्ट साधनता है जलम इष्ट साधनम तो पानी को लेते रखते पीते हैं तो कोई विधान करता है तो मैं काम करो वहाँ भी यद्यपि नहीं सोते ये मेरा इष्ट साधन है किंतु पिता कहते गुरु कहते काम करो तो करना चाहिए करेंगे तो प्रसन्न होंगे ये मुझे करना चाहिए तो ये कर्म मद इष्ट साधनम इष्ट है पितरोपि गुरु आदि की प्रसन्नता कुछ ना कुछ इष्ट साधनता इष्ट है इच्छा का विषय को कहते इष्ट इच्छा किसकी होती है इच्छा का विषय क्या हो सकता है सुख सुख साधन सुख सब चाहते हैं चाहता कोई सुख और सुख साधन चाहते सुख की इच्छा से सुख साधन भी चाहते हैं और क्या चाहते हैं दुख निवृत्ति दुख का नाश सब चाहते हैं दुख निवृत्ति का साधन चाहते हैं तो यह कर्म मदिष्टम साधनम ऐसा सोच करके कर्म में प्रवृत्ति होती है पागल कोई है बच्चा है वो पता नहीं फिर भी बच्चा कभी सोता है इसमें कुछ मिलेगा सोच कर प्रवृत्त होता है तो प्रवृत्ति के कारण इष्ट साधनता ज्ञान अन्यत्र अपने आप प्रवृत्त होते इष्ट साधनता ज्ञान प्रवर्तक होता है प्रवृत्ति होती है कुछ करने के लिए तो वेद में भी जो सुनेंगे लोग पिता माता कहते हैं जो कर प्रभुत्व होता है आज्ञा पालन करता है वहां भी इष्ट साधनता विधान किया गया अब ज्यादा नहीं सोच कर दौड़ कर लाते हैं ले आओ तो दौड़ कर चला गया वहां उतने नहीं सोचने की लाएंगे तो खुश होंगे कि अभ्यास बार-बार हो जाता है तो इतने विचार नहीं होता है किंतु प्रवृत्ति सामान्य में इष्ट साधनता ज्ञान है प्रवृत्ति का कारण जो इष्ट साधन उसमें इष्ट साधनता रहेगी उसको जानने पर आपको मालूम नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी ये मेरा इष्ट साधन ऐसा निश्चय होगा तो प्रवृत्ति होगी अदृष्ट साधनता ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती निवृत्ति सर्प देखा दुष्ट साधन भागा दौड़ करके इष्ट साधन तो गया उठाने के लिए रजत आदि हो तो तो प्रवृत्ति के कारण इष्ट साधनता ज्ञान समिहित साधनम याग यजेत स्वर्ग काम सुन करके सामान्य रूप से ज्ञान होता है पहले याग स्वर्ग इष्ट साधनम विधान किया गया करो इसलिए इष्ट साधन है याग संहित इष्ट सम्यकित इष्ट संहित साधनम याग अभी इष्ट क्या है याग इष्ट साधन है इतने तो ज्ञान हुआ किंतु इष्ट क्या है कस्य समहित से साधनम समय कस्य इष्ट से साधनम याग इष्ट साधन इतने तो निश्चय हो गया क्योंकि श्रुति वाक्य से प्रेरणा की गई याग करे वेद भगवान कहते याग करे तो विधान किया गया मतलब जरूर याग इष्ट साधन है किंतु किस इष्ट का साधन है ये विशेष आकांक्षा होती है इष्ट साधन निश्चय हो गया किंतु इष्ट कौन सा इष्ट है किसका साधन या आगे आकांक्षा होने पर क्या विचार करेंगे यजेत स्वर्ग काम सा पास में स्वर्ग शब्द कहा गया स्वर्ग जो चाहता है याग करे तो इष्ट सा किसका साधन होगा याग स्वर्ग का क्योंकि स्वर्ग काम दिया यदि अन्य कोई पद देते चित्र आयोजित पशु काम तो फल क्या होगा पशुए चित्राय का फल पशुए कारिर्याय यजेत वृष्टि काम एक कारिर्याग करने पर वृष्टि होती है तो हम वृष्टि रूप इष्ट है तो अलग-अलग इष्ट वहाँ सन्निहित सर्ग काम पद सन्निधानात यजेत सर्ग काम सर्ग काम पद सन्निधान का सन्निधान समीप में होने से काम्य मान सर्ग साधनत्वम यद्यपि अवगम्यते काम्य कामना का विषय इष्ट स्वर्ग है सुख विशेष सब चाहते हैं काम्यमान होता है स्वर्ग तो स्वर्ग साधनत्वम याग में यद्यपि अवगम्यते निश्चित होता है याग स्वर्ग साधनम याग स्वर्ग साधन याग से स्वर्ग मिलेगा अभी याग करेंगे आ याग करेंगे तो याग तो समाप्त हो जाएगा क्षणिक है याग तो नहीं रहेगा अभी बहुत व्यवस्था सब जुगाड़ करके याग करेंगे आगे दो दो साल के बाद वो याग रहता है एक साल के बाद एक महीने के बाद याग समाप्त हो गया याग ध्वंस हो गया याग ध्वंस नष्ट हो गया तो कैसे स्वर्ग देगा जो कुलाल मर गया वो घट बनाता है या पट बनाता है क्या बनाएगा तो मर गया तो क्या बनाएगा जीवित है तो मर ध्वस्त हो नष्ट हो गया जो नष्ट हो गया वो क्या कार्य करेगा याग तो नष्ट हो गया ध्वंस हो गया स्वर्ग कैसे मिलेगा इसलिए मानना पड़ेगा श्रुति में जो विधान किया गया अजित स्वर्ग काम याग स्वर्ग साधन तो अवश्य ही मानना पड़ेगा याग से कुछ होता है जो रहेगा आगे स्वर्ग फल देगा ये मानना पड़ेगा क्षणिक से याग से कालांतर स्वर्ग साधन तो बात क्षणिक याग नष्ट हो जाता है एक दिन दो दिन में क्या नष्ट हो गया कालांतर अन्य काल में मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कालांतर स्वर्ग साधन तो नहीं हो सकता याग में तो याग निष्फल हो जाएगा निष्फलत्वम संकेत निष्फल हो जाएगा याग ये शंका होने पर आशंका कहते करते न प्रमाणाधिगतत्वात् अनर्थ क्यों उत्तम ईश्वर आदि से कोई स्वर्ग फल नहीं कहा यज्ञते स्वर्ग काम कहा गया शास्त्र याग स्वर्ग साधना और वेद प्रमाण से ज्ञात या यज्ञते स्वर्ग काम याग इष्ट साधन है वो अनर्थक नहीं हो सकता है अनर्थक नहीं उत्तम कुछ ना फल होगा टीका मैं औषध पानादेह कर्मण स्थायी संस्कार द्वारा न कालांतरे आरोग्य आदि फल हेतुत्व प्रसिद्धेर याग से श्रुत साधनत्व निर्वाहाय स्थाय अवांतर पूर्वम परिकल्पते तेन न तो अनर्थक्यम निर्दोष वाक्याधिगतत्वाद इत्यर्थ ये न च प्रमाणाधिगतत्वाद अनर्थक्यम उत्तम इसका अर्थ हुआ औषध पान करते हैं औषध पाने के कर्म है औषध सेवन किया औषध सेवन करते ही रोग निवृत्त हो जाता है औषध सेवन करते करते कभी कितने दिन करने के बाद कभी कभी कोई औषध लिया ठीक हो जाता है कभी औषध लेते रहो डॉक्टर के पास जाएंगे और ले तो ठीक नहीं होता फिर कहे उसको लेते रहो उसको फिर लेते रहो कब तक मरने तक <laughs> जब मर गया तो अब दोबारा नहीं लेना नहीं तो लेते जाओ तो कुछ दवाई ऐसे लेते तो बहुत दिन लेने पर रोग ठीक होता है नहीं ठीक नहीं होता तो कहीं मर जाता है तो रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन करते हैं औषध सेवन किया सात दिन कोई है पाँच दिन कोई सात दिन दवाई लेना लेने पर धीरे धीरे ठीक होता है डॉक्टर पास जाते हैं डॉक्टर कहता है चिंता नहीं करो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे ठीक होता है औषध पान करने पर अंदर कुछ संस्कार होता है वो तो संस्कार से धीरे धीरे रोग निवृत्त होता है कहीं कहीं नहीं होता है कहीं कहीं होता है कहीं कहीं मर जाते हैं तो सब प्रकार होता है तो रोग निवृत्त भी होता है रोग निवृत्त होता है तब वो सेवन करते हैं औषध पानादे कर्मण स्थायी संस्कार द्वारा न कोई संस्कार रहता है स्थिर रहता है औषध तो समाप्त हो गया किंतु उसका तजन्य कुछ संस्कार देह में हुआ उसके द्वारा कालांतरे आरोग्य आदि फल हेतुत्व तो प्रसिद्ध है अब औषध सेवन किया आगे आरोग्य होगा कुछ दिन के बाद सात दिन के पंद्रह दिन के बाद कोई कोई दवाई लेते तीन महीना छः महीना साल लेते रहते हैं तो दवाई लेने से औषध सेवन करने से अन्य काल में आरोग्य फल होता है आरोग्य आदि रोग निवृत्ति होती क्षुधा वृद्धि केश को भोग नहीं लगता है औषध सेवन कर दे क्षुधा वृद्धि होती है आरोग्य आदि फल हेतुत्व किसमें आएगा फल हेतुत्व औषध आदि पान कर्म में फल हेतुत्व आया ये प्रसिद्ध है लोग में जानते औषध सेवन करते आगे फल मिलेगा ये नहीं कि तुरंत औषध सेवन करने से कुछ नहीं हुआ तो कहते ये व्यर्थ है क्यों खाएंगे ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर औषध खाओ फिर खाओ काल खाओ तीन दिन चार दिन पाँच दिन खाते हैं फिर रोग निवृत्त होता है प्रसिद्ध है यागस्य इसी प्रकार यहाँ भी याग नष्ट हो जाता है ठीक ही किंतु श्रुति में कहा गया स्वर्ग साधन याग श्रुत साधनत्व निर्वाहय याग में श्रुतम यत साधनत्वम निर्वाहय श्रुति में कहा गया याग स्वर्ग साधन यजेत स्वर्ग का वाक्य से निश्चित होता है उसमें स्वर्ग साधन तो कैसे आएगा निर्वाह संपादन करने के लिए साधन स्वर्ग साधन तो याग में निर्वाह करने के लिए मानना पड़ेगा यागजन्य कोई स्थायी अवांतर अपूर्वम परिकल्पते दिखता तो नहीं है कुछ मध्य में अपूर्व कल्पना करनी पड़ती है याग से कोई अपूर्व होगा आगे फल देगा वो अपूर्व स्थायी है याग तो नष्ट हो गया किंतु अपूर्व स्थायी है अवांतरे मध्यवर्ती अपूर्व कल्पना करते हैं जिसको पुण्य पाप कहते याग आदि कर्म करने से पुण्य पाप अदुष्ट हुआ वो रहेगा आगे फल देगा तार्किक लोग कहते याग फिर स्वर्ग का कारण नहीं हुआ स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद उस समय तो याग नहीं रहा स्वर्ग में कारण तो कैसे आएगा कारण तो कैसे आएगा सजन्य अपूर्वत्ता संबंधे न याग स्वर्ग के प्रोक्षण रह जाएगा तार्किक लोग सिखाएंगे सब से याग लेंगे सौजन्य अपूर्व व्यापार हो गया सौजन्य अपूर्वत्ता आत्मा में आ जाएगी और स्वर्ग जो मिलेगा उसके पुरोक्षण में याग भी स्वर्ग भोग करने वाले में याग भी जाकर रहेगा कि समझ से स्वजन्य अपूर्वत्ता संबंध से परंपरा संबंध कह करके याग भी स्वर्ग पुरोक्षण वृत्ति हो जाएगा स्वर्ग मिल जाएगा वो स्वर्ग सुख है तार्किक लोक है आत्मा में होता है जैसा वो अपूर्व कल्पना करनी पड़ती है लोक में भी प्रसिद्ध है कोई कर्म करता सत्कर्म तो पुण्य करता है आगे स्वर्ग जाएगा कोई पाप कर्म करता है लोग ये नरक जाएगा पाप कर रहा है अभी तो पाप कर्म नष्ट हो गया किंतु आगे पाप कर्म रहेगा कर्म तो नष्ट हो गया कर्म जन पाप दुरिष्ट दुरित अपूर्व उत्पन्न हुआ पाप अदृष्ट आगे नरक देगा ये भी प्रसिद्ध है जिस प्रकार स्थायी प्रसिद्ध है ईश्वर ऐसा हम कल्पना करेंगे वो अदृष्ट है तेन न तो अनर्थकम निर्दोष वाक्य अधिगतत्व इसलिए अब यजेत स्वर्ग का वाक्य अनर्थ नहीं होगा निर्दोष श्रुति वाक्य से ज्ञात हुआ कोई पुरुष कुछ कहता है उसमें दोष की संभावना कोई पुरुष अगर कुछ कहा नद्या तेरे पंच फलानि संति नदी तीर में फल है प्रमाण है ना नहीं हो भी सता नहीं भी हो सता है कोई ठगने के लिए कहा जाओ दौड़ कर जाओ तो इसी प्रकार कहीं वाक्य कोई अनाप्त वाक्य स्वयं देखा नहीं सुनकर बोल दिया कुछ लोग नहीं सुनकर भी अपने मन से कुछ झूठ बोल देते हैं और खुश होते ही दौड़ कर जाता है देखो खुश हुए दूसरे को झूठ बोल दिया अपने झूठ बोला अपनी गलती नहीं देखते वो उसके विश्वास कर चला गया तो देखो ये बेकूबे जा रहा है फल के लिए कोई पूछा वो पूछा कहाँ जाना है लक्ष्मण चला जहाँ जाना चाहे वो दूसरे रास्ता बता दिया क्या ये जाता है फिर वो गया उधर विश्वास करके और आपस में होते देखो कितने बेकूबे वो जा रहा है लक्ष्मण चला वो तो नहीं जानता है तुमको भी दूसरे स्थान जाओ तुम तो भी पता नहीं चलेगा तो पूछीदा तो उसको कुछ लोग ऐसे बुद्धि वाले ऐसे भी करते हैं खुश होते दूसरे रास्ता बता कर खुश होते देखो जा रहा है तो जाएंगे बताएंगे नहीं खुद जाकर फिर वापस आएंगे फिर देखे देखो वापस आ रहा है ऐसे मौज करते कुछ लोग खुश होते हैं तो ऐसे अनाप्त होते हैं यथार्थ वक्ता होता है आप्त अनाप्त होता है जो यथार्थ नहीं अयथार्थ बोलने वाला जान करके दूसरे को ठगने के लिए बोलता है अतः स्वयं भ्रांत हो तो रज्जु है सर्प समझ के दौड़ कर आप गए कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे रज्जु कहेगा सर्प कहोगे सर्प तो आप दूसरे को ठगने के लिए कहा यथार्थ कहा आपने कहा ठीक है किंतु आपको भ्रम हुआ तो दोनों प्रकार अनाप्त पुरुष जो पौरुष कुछ कहता है उसे भ्रांति और विप्रलिप्सा भ्रांति भ्रम विप्रलिप्सा ठगना दूसरे को ठगने के लिए कोई झूठ बोल दिया देखा है रोजू डरा दिया देखा है कुछ नहीं बताता फल वहाँ है पेड़ में बहुत बड़े फल पले जाओ और फल है तो गया तो इसी प्रकार दूसरे को ठगने के लिए पुरुष वाक्य में संशय होता है दोष की शंका क्या दोष है भ्रांति विप्रलिप्सा ये जो शंका है पौरुष वाक्य में अवश्य शंका होती है आप तो निश्चय होगा तो संशय नहीं होगा अरे वेद वाक्य भगवान ईश्वर प्रोक्त अथवा ये अनादि है उसमें पौरुषत्व तो नहीं अपौरुष है अपौरुष होने के कारण पौरुष वाक्य में जो संशय दोष की शंका वो अपौरुष वाक्य में ऐसे दोष शंका नहीं है निर्दोष है निर्दोष वाक्य होने से वेद वाक्य प्रमाण है निर्दोष वाक्य होने से उसको अनर्थक नहीं कर सकते हैं निर्दोष वाक्य अधिकतत्वात् निर्दोष वाक्य होगा अपौरुष वेद वाक्य तेन अधिकतत्वाद ज्ञातत्वाद अधिकते ज्ञात जाना जा गया इसलिए यजेत स्वर्ग का वाक्य व्यर्थ नहीं है अवश्य ही स्वर्ग साधन याग है तो मानना पड़ेगा स्वर्ग साधन याग है तो याग जन्य अपूर्व होगा आगे स्वर्ग फल मिलेगा श्रुत साधन तो सिद्धि अन्यथा अनुपपता सिद्धांत की तरफ से कहते हैं ईश्वर कल्पना कर लो याग स्वर्ग साधन याग में स्वर्ग साधन तो श्रुति में कहा गया ठीक है स्वर्ग साधन तो होगा कैसे अभी आ करता है मर जाएगा तो ईश्वर उसको स्वर्ग देंगे श्रुत साधन तो निर्वाहय याग में जो श्रुत स्वर्ग साधन तो है श्रुत श्रुति में कहा गया श्रुतमह कौन है स्वर्ग श्रुति में कहा गया स्वर्ग साधन तो निर्वाहाय नीचे श्रुत साधन तो सिद्धि श्रुत साधनत्व तो की सिद्धि होती है स्वर्ग साधनत्व तो की सिद्धि के लिए सिद्धि कैसे होगी अन्यथा अनुपपत्या ईश्वर कल्पना करो ईश्वर कल्पना नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा याग नष्ट हो गया स्वर्ग कैसे मिलेगा ऐसे ईश्वर को ही कल्पना करो ईश्वर कल एव किम नैष्यते ईश्वर क्यों नहीं मानते एक अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण है अन्यथा अनुपपत्ति अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है अन्यथा अनुपपत्ति इसको कहते अर्थापत्ति प्रमाण अर्थापत्ति अन्यथा अनुपपत्ति दिन में भोजन नहीं करता हम देखते हैं किंतु बड़ा मोटा तगड़ा स्वस्थ होकर बैठा है तो मालूम क्या होगा रात में खाता है तो कह दिवा अभुंजानस्य पिनत्व अनुपपत अन्यथा करता रात्रि भोजन बिना दिन में नहीं खाता है कोई बाबा कहें गया बोला हम बिल्कुल नहीं खाते हैं सबके सामने बिल्कुल नहीं खाते नहीं खाते रात में खाता रहता है अपने बाद दिन भर नहीं खाता है पंद्रह दिन महीना <laughs> देखो तो यार कि बड़ा अच्छा है रात को अपने आप खाता है देखकर पता चलता है सोते नहीं खाता क्या देखो छिप कर देखे रात को अपने कुछ निकाल कर खाता है तो दिवा भुंजान से दिन में नहीं खाता है किंतु मोटा है ये अन्यथा अनुपपति अन्यथा कहता था रात्रि भोजन के बिना ऐसे मोटा नहीं हो सकता है अन्यथा अनुपपत्या क्या कल्पना करेंगे ये रात्रो भुंग रात्रि में खाता है कोई व्यक्ति मोटा तगड़ा है उसको देखने से नीचे हो जाएगा रात में खाता है रात में नहीं खाकर मोटा हो सकता है हो सकता है दिन में खाकर हो सकता है तो अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन कल्पना हो जाएगी अन्यथा उपपन्न है रात्रि भोजन के बिना मोटा कोई हो सकता है क्या हो सकता है दिन में खाकर हो सकता है वहां रात्रि भोजन कल्पना नहीं करते हैं क्यों अन्यथा उपपत्ति होगी अन्यथा अनुपपत्ति कब दिवा अभुंजानस्य दिन में नहीं खा करके मोटा है ये तभी मानना पड़ेगा रात्रि भोजन अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन की कल्पना होती है किंतु अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण के लिए दोष है अन्यथा उपपत्ति यदि अन्य प्रकार हो सकता है तो दिन में खा करके मोटा हो सकता है तो रात्रि भोजन कल्पना करना है नहीं इसलिए अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण के लिए दोष अन्यथा उपपत्ति अन्य प्रकार हो सकता है जब अन्य प्रकार हो सकता है तो कल्पना नहीं होती अन्य प्रकार नहीं हो सकता है तो कल्पना करनी चाहिए तो यहाँ पूरे सिद्धांत की तरफ से कहते हैं श्रुत साधनत्वम श्रुति में कहा गया स्वर्ग साधन तो याग में याग नष्ट हो जाता है अन्यथा अनुपपत्य ईश्वर नहीं मानेंगे याग जन्य फल स्वर्ग कैसे मिलेगा याग जन्य फल स्वर्ग कौन देगा अन्यथा अनुपपत्य प्रमाण से ईश्वर मानो किमित ईश्वर बने सत्य सिद्धांति कहता है पूर्व मीमांसक से ईश्वर क्यों नहीं मानते हो जब सयाग स्वर्ग साधन कहा गया वेद में और याग नष्ट हो जाता हम देखते स्वर्ग साधन तो जब याग में अवश्य है क्योंकि श्रुति में कहा गया वो अन्यथा अनुपपत्ति अन्य प्रकार ने ईश्वरम बिना ईश्वर के बिना नहीं हो सकता है क्योंकि याग तो नष्ट हो गया तो अन्यथा अनुपति प्रमाण से ईश्वर क्यों नहीं मानते हो न ईश्वर क्यों नहीं मानते हो तत्राह पूर्व व्यास कहता है अन्यथा अनुपपत्ति ने अन्यथा उपपत्ति अन्यथा अनुपपत्ति होती ईश्वर मानेगी जब कर्म से ही स्वर्ग मिल सकता है तो ईश्वर को क्यों माना क्या जरूरत है अन्यथा अनुपपति है कर्म जी स्वर्ग दे सकता है तो ईश्वर मानने की आवश्यकता है पूर्व पिछ कहता है न ईश्वर अस्तित्व प्रमाणांतरम अस्तिति चेत ईश्वर है करे कोई प्रमाण ही नहीं ये अर्थापति से कल्पना करोगे ईश्वर है करे कल्पना क्या करोगे आप अर्थापति प्रमाण अर्थापति कहता था अन्यथा अनुपपत्ति अन्यथा नहीं हो सकता है तो ईश्वर मानेंगे अन्यथा हो सकता है तो ईश्वर मानेंगे कर्म यदि स्वर्ग फल दे दे अवान्तर अपूर्व याग से अपूर्व होकर स्वर्ग यदि मिल जाएगा तो ईश्वर क्यों मानेंगे जिस प्रकार दिन में खा करके मोटा हो सकता है तो रात्रि भोजन की कल्पना नहीं होती है इसी प्रकार ईश्वर नहीं मानने पर भी कर्म से यदि स्वर्ग मिल सकता है ईश्वर कल्पना करना जरूरत नहीं अन्यथा उपपति पूर्व पीछे कहता है है मैं नेयम अर्थापति ईश्वर अस्तित्व प्रमाणम ये अर्थापति तुम जो कहते हो वेदांति ईश्वर अस्तित्व में प्रमाण नहीं है क्यों प्रमाण है अर्थापति के प्रमाण है हम मानते आप भी मानते हो तार्किक लोग अर्थापति प्रमाण नहीं मानते कि मीमांसा के लोग वेदांति तो मानते अन्य अर्थापति तो अर्थापति के लिए पूर्व मीमांसा कहता अर्थापति के लिए दो से अन्यथा उपपत्ति अन्यथा भी उपपन्नत्वात् अन्यथा ईश्वरम बिना हो सकता है यह आगे में स्वर्ग साधनत्व याग में स्वर्ग साधन तो अन्यथा अन्य प्रकार न ईश्वर के बिना हो सकता है कैसे हो जाएगा अदृष्ट से अदृष्ट से स्वर्ग मिलेगा तो स्वर्ग साधन याग हो गया ईश्वर के बिना हो सकता है तो ईश्वर माना जरूरत नहीं पूर्व में से कहता है अन्यथा भी उपन्न तत्व न च मानांतरमस्ति औ ईश्वर के लिए आप एक है आपके पास प्रमाण है अर्थापति प्रमाण अर्थापति प्रमाण तो अन्यथा उपपन्न हो गया वो प्रमाण नहीं रहा न च मानांतरमस्ति दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं ईश्वर के लिए इसलिए कर्म से ही मिल जाएगा ईश्वर नहीं में कोई प्रमाण नहीं सिद्धांत कहता है ईश्वर में प्रमाण ही तुम कैसे कहते हो अर्थापति प्रमाण नहीं माना श्रुति में प्रमाण है ईश्वर के लिए यह सर्वज्ञ सर्वविद यस ज्ञानमय तत तब कितने श्रुति ईश्वर के लिए प्रमाण ईश्वर प्रमाण तो पूर्व पिछ कहता है प्रमाण उसको माने कैसे श्रुति में तो ऐसे कहा गया आदित्य यूप लकड़ी को आदित्य कह दिया इसको प्रमाण मान के लक्ष्मण को सूर्य भगवान मानते हैं और स्तुति के लिए कह दिया बहुत अर्थवाद वाक्य ईश्वर अस्तित्व में कुछ श्रुति प्रमाण जरूर है श्रुति में वाक्य है किंतु वाक्य का तात्पर्य स्वार्थ में है अर्थात स्तुति करने के लिए कैसे नीचे होगा ये अर्थवाद हो सकता है ऐसे लकड़ी को आदित्य कह देती श्रुति आदित्य युप यजमान प्रस्तर दर्भ के मुष्टि बनाए कहते यजमान है यजमान क्या हो जाएगा दर्भ कुशल लाकर मुट्ठी बनाया यजमान कैसे हो जाएगा ऐसे कहीं स्तुति करने के लिए अर्थवाद वाक्य ऐसे ईश्वर के विषय में जितने वाक्य हो सकता है अर्थवाद अर्थवाद करने किसको कहते स्तुति निंदा अन्यतर वाक्य अर्थवाद है स्तुति करने के लिए अथवा निंदा करने के लिए कुछ विधान किया गया उसकी स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य है और वायव्यम श्वेतमालभेत वायु देवता का कर्म विधान किया गया उसकी स्तुति के लिए कहा वायुर्वेक्ष वायु वायु शीघ्रगामी है अर्थात वायु देवता कर्म जो करेगा शीघ्र फल मिलेगा उसको और वरिष्ठ रजतम न देम याग में रजत दान निषिद्ध है और निषिद्ध उसको निंदा करने का कहा यद अग्नि अरोदित रुद्रस रुद्रत्वम ये अग्नि रजत दान करेगा जिसको रोना पड़ेगा तो रजत से अग्नि के आंसू से रजत की उत्पत्ति हुई जो रजत दान करेगा सो रोना पड़ेगा तो रजत दान याग में नहीं करते हैं तो निंदा निषिद्ध की निंदा करने के लिए अरे विधेय की स्तुति करने के लिए अर्थवाद वाक्य यहाँ भी इस प्रकार अर्थवाद वाक्य है कर्म फल देता है उसी कर्म की स्तुति करने के लिए कर्म को ईश्वर कह दिया स्वर्ग फल कर्म देगा याग करेंगे तो अपूर्व उत्पन्न होगा वही फल देगा स्वर्ग इसलिए कितने समर्थ है वो अदृष्ट जो याग से उत्पन्न हुआ ईश्वर के बराबर का तो ईश्वर है कहते ये मालिक है कोई सामान्य कहते देखा वो का ये उनके नौकर कहते मालिक है ये राजा है राजा के पास कोई जाता है धन सम्पत्ति मिल गया कहते ये राजा है तो राजा है क्या राजा कहकर स्तुति कर देते कभी कोई द्वारे में खड़ा है यदि कहते यही मालिक है तो मालिक है तो खुश हो जाएगा तो स्तुति करने के लिए से कह देते मालिक को कह देते सामान्य किसको बड़ा कह दिया जो सेठ के पास कोई काम करता है उनको सेठ जी कह दिया वो खुश हो जाता है हमको सेठ कह दिया दुकान में इसी स्तुति करने के लिए कर्म को ईश्वर कह दिया तद विषय श्रुत्यादि अर्थवाद अर्थ तद विषय मतलब ईश्वर विषय श्रुति आदि पर से स्मृति श्रुति स्मृति वाक्य तो है ईश्वर विषय का किंतु अर्थवाद तो अर्थवाद स्तुति के लिए कर्म की स्तुति करने के लिए उसकी ईश्वर कह दिया ईश्वर जैसे लोग में कहते ईश्वर मंडलेश्वर मंडल का ईश्वर मंडलेश्वर ईश्वर है ईश्वर महाराज कहते साधु को महाराजा छोटे राजा छोटे छोटे और साधु लोग महाराजा ए ब्राह्मण पंडित काशी में कहते इनके पास रोटी खाने के नहीं मांगने के जाते कहते महाराजा किसके राजा है और बोलते देखो हमारे पत्नी हमको कभी स्वामी नहीं कहती इन लोग को स्वामी स्वामी सब कहते किसके स्वामी है एक पंडित कहते थे बोले हमारे दो तीन पंडित मिले बताओ तुम्हारे पत्नी कभी तुमको स्वामी जी करके बुलाया <laughs> कभी कभी बुलाते स्वामी जी करके नहीं बुलाते आजकल तो नाम लेकर बुलाते <laughs> जैसे नगर के जैसे बुलाते स्वामी करके कभी बुलाते <laughs> कितने महात्मा है ये भीख मांगने वाले इनको कहते स्वामी जी स्वामी जी इनको कहते महाराज ये क्या महाराज है इनके पास क्या है तो ये महाराज हो गए तो इसे स्तुति करने के लिए जैसे महाराज कह देते स्वामी जी कह देते ऐसे कर्म को ईश्वर कह दिया न अपूर्व द्वारा ने श्रुति श्रुत निर्वाह कर्म अभी सिद्धांत क्या होता है यहाँ तक तो, तो पूर्व पीछे हो गया ईश्वर जो कोई प्रमाण नहीं है इसलिए कर्म से फल मिल जाएगा ईश्वर में कोई प्रमाण नहीं तो आप वेदांती जो मानते हो ईश्वर है जो लोग ईश्वर उपासना करते वो ठीक नहीं है पूर्व पीछे कहता है सिद्धांति कहता है ये अपूर्व मान करके श्रुत प्रमाण निर्वाह तुम कल्पना नहीं कर सकते हो ना अपूर्व द्वार ने श्रुत निर्वाह कल्पनीय इस श्रुत जो इष्ट साधन स्वर्ग साधनत्व तो या आगे में स्वर्ग साधन तो श्रुत श्रुति में कहा गया उसका संपादन अपूर्व के द्वारा नहीं कल्पना नहीं करना चाहिए अपूर्व से नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा अपूर्व से अपूर्व से तो फल मानना ही पड़ेगा इसलिए कहते ना हाँ, थोड़ा विचार करना पड़ेगा कर्म से फल मिलता है तो कर्म किस प्रकार होता है अपूर्व कहाँ मानते भोजन करते तो अपूर्व होता है क्या अवरोध फल जहां कर्म फल प्रत्यक्ष दिखता है वहां पूर्व कल्पना नहीं करते हैं जहाँ कर्म फल प्रत्यक्ष नहीं दिखता है वहां पूर्व मानना पड़ेगा कर्म फल प्रत्यक्ष नहीं दिखता है किंतु विधान किया गया तो विधान किया गया कर्म करने के लिए कुछ फल नहीं दिखता है तो कुछ पूर्व मानना पड़ेगा ब्रिहिन प्रक्षति धान के ऊपर थोड़ा प्रोक्षण करो पंडित से प्रोक्षण करो तो थोड़ा पानी छिटा डाल दिया कोई पूछता है किया ये सब बढ़ाते पानी डाल दिया तो क्या हो गया ये धान रखा इतने पानी डाल दिया क्या हो गया तो क्या हो गया प्रश्न नहीं जैसे शास्त्र में विधान किया गया ऐसे करना पड़ेगा प्रोक्षण करो तो प्रोक्षण करने से क्या होगा प्रोक्षित वीर्य में कुछ अदृष्ट उत्पन्न होगा उसी धान को कूट करके पुरोरास बनाएंगे तो आगे एक फल मिलेगा शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करना पड़ेगा अपने मनमानी कोई नहीं कर सकता है यदि मनमानी का ऐसे क्या हो गया नहीं डाल तो क्या हो जाए छोड़ो क्या हो जाता है ऐसा नहीं होगा शास्त्र विधि से कर्म करने से फल मिलेगा अपने मन मन से फल नहीं होता है तो शास्त्र में जैसे विधान किया गया श्रुत साधनत्व श्रुत साधनत्व निर्वाह करने के लिए अदृष्ट मानते हैं तो पूर्व पीछे कहता है जहाँ फल नहीं मिलता अदृष्ट मानते इसे तो मानना पड़ता है तो याग में भी अदृष्ट स्वर्ग साधन तो है अदृष्ट मानेंगे उससे कर्म फल स्वर्ग फल मिल जाएगा ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं तो सिद्धांत कहता अपूर्व के द्वारा सुत निर्वाह करना ये ठीक नहीं है क्योंकि यद व्यवहित फलम कर्म तैतन्य प्रयुक्त फलमिति दिष्टा व्याप्तिर हानि प्रसंगात अतः श्रुत साधन तो सिद्ध अन्यथा अनुपत्या ईश्वर फलदाता कल्पनीय इत्याह सिद्धांत कहता है फलदाता ईश्वर कल्पना करनी पड़ेगी यत व्यवहित फलम कर्म व्यवहितम फलम यस्य कर्म तत्कर्म व्यवहित फलम कर्म करने पर फल व्यवधान में मिलता है सब कर्म करते तुरंत फल मिलता है क्या व्यवधान से फल मिलता है तच्चैतन्य प्रयुतम प्रयुत फलम चैतन्य प्रयुतम फलम यस्य कर्मण तत्कर्म चैतन्य प्रयुत फलम इति दृष्टा है ये व्याप्ति दिखी गई व्याप्ति कैसे दिखी गई वे बताएंगे व्याप्ति दृष्टा है व्याप्तेर हानि प्रसंग आता हानि हो जाएगी व्याप्ति की हानि व्याप्ति भंग हो जाएगा कि वो दृष्टांत बताएंगे कोई कर्म करता है आगे सो विचार कर बताएंगे कर्म करता है तो कर्म का फल आगे प्राप्त करता है कोई कर्म करता है फल मिलता है चेतन उसको फल देता है कोई नौकर काम करता है मालिक उसको महीना के बाद फल देता है रुपया दे देता है और कोई चेतन नहीं होगा खाली कर्म करेगा तो उसको मिल जाएगा वेतन कोई वेतन देने वाला होता है तो व्यवहित फल तुरंत फल नहीं मिलता तो व्यवहित व्यवहित फलम तचैतन्य प्रवृत्तमिति फल व्याप्ति दिखी गई उसका हानि उसकी त्याग प्रसंगाद इसलिए ईश्वर मानना चाहिए अतः केवल कर्म से फल नहीं हो सकता है जड़ से सुत साधन तो सिद्ध अन्यथा अनुपत्या अन्यथा मतलब चेतन के बिना जो स्वर्ग साधनत्व याग में उसकी सिद्धि नहीं होगी कर्म जड़ है वो क्या स्वर्ग फल देगा रहेगा कहाँ फल कहाँ दे देगा श्रुत साधन तो याग में जो स्वर्ग साधन तो श्रुति में कहा गया उसकी सिद्धि अन्यथा अन्य प्रकार ने कहा था ईश्वरम बिना अनुपपत्य ईश्वर के बिना नहीं हो सकती है इसलिए ईश्वर फलदाता कल्पनीय है फल देने वाला ईश्वर कल्पना करना चाहिए इत्याह सिद्धांत कहता है भाष्य में न दृष्ट हान अनुपपत्ते दृष्ट दृष्टाया दृष्ट न्याय हानानुपपत्ते दृष्ट से न्याय से हान से अनुपपते दृष्ट जो न्याय उसका त्याग नहीं हो सकता है व्याप्ति दिखी गई जो व्यवहित फल कर्म होता है कोई चेतन फल देता है ये संग्रह वाक्य है सिद्धांति का न दृष्ट न्याय हान अनुपपते ईश्वर में कोई प्रमाण नहीं बात नहीं ईश्वर मान करे तुम कह तो ईश्वर नहीं मानेंगे ऐसा मानेंगे तो दृष्ट जो न्याय उसका त्याग होता है ये नहीं होना चाहिए अनुपपते इसलिए ईश्वर मानना चाहिए दृष्ट न्याहना अनुपपते संग्रह वाक्य ये संग्रह वाक्यम विवृणति ये संग्रह वाक्य संक्षेप वाक्य सिद्धांति का इसका विवरण सिद्धांति करता है क्रिया ही क्रिया ही द्विविधा दृष्ट फला अदृष्ट च जितने क्रिया दो प्रकार दो विवाह कर दिया कुछ दृष्ट फला कुछ अदृष्ट फला दृष्टम फलम यस्या क्रिया सा क्रिया दृष्ट फला जिस क्रिया का फल प्रत्यक्ष अनुभूत होता है उसको कहेंगे दृष्ट फला जैसे भोजन आदि क्या फल तृप्ति तुरंत हो जाता है और कुछ क्रिया है अदृष्ट फला अदृष्टम फलम यस्या क्रियाया अभी कर्म करने पर फल नहीं दिखता है आगे फल मिलेगा औसत सेवन किया तुरंत फल नहीं मिला तो अदृष्ट फला है स्वर्ग के लिए यह करते उसका फल अभी दिखता नहीं अदृष्ट फला दो प्रकार क्रिया है हां दृष्ट फला भी द्विविधा दृष्ट फला का क्रिया जिसका फल प्रत्यक्ष दिखता है वो भी दो प्रकार है दो प्रकार कैसे अनंतर फला आगामी फला च अनंतरम फलम यस्या क्रिया सा अनंतर फला भोजन करते ही तृप्ति होती है या कुछ देर के कुछ दिन के बाद हैं तो औसत सेवन कर दे तुरंत रोग निवृत्त हो गया भोजन दृष्ट फला अदृष्ट फला और औषध सेवन है वो भी दृष्ट फला है किंतु दोनों में भेद क्या है एक अनंतर फला है आगामी फला अनंतर फला है भोजन भोजन करते तुरंत तृप्ति और आगामी फला है औषध कोई कोई औषध तुरंत भी फल देता है कोई जरूरी नहीं सब फल कोई कोई फल सब सेवन करेगा देर में होता है कोई शीघ्र हो जाता है तो आगामी फलाच दो प्रकार होगी क्रिया अनंतर फला कौन है स्वयं कहते गति भुज लक्षण गमन भोजन ये अनंतर फला गच्छति गमन गमन करते गमन समाप्त हो जाता है जब जहाँ जाना प्राप्त हो गया तो गमन कर से प्राप्त हो जाता है या गमन करके थोड़ी बार बढ़ जाएगा उसके बाद प्राप्त हो गया ग्राम चैत्र ग्रामम गच्छति चला कुछ दिन फिर बाद में वहीं सो जाएगा दूसरे दिन प्राप्त हो जाए ऐसा होता है गमन कर दूसरे दिन जैसे कर चलेगा फिर गमन करेगा गमन करके प्राप्त होता है तो गमन क्रिया दृष्ट फला है अदृष्ट फला है दृष्ट फला अनंतर फला आगामी फला अनंतर फला गति भोजन अनंतर फला और कालांतर फला क्या है कृषि सेवा आदि लक्षण कृषि करता है कृषक खेती में बड़ा परिश्रम करता है तुरंत मिल जाता है धान गेहूं आदि वो कालांतर फला कुछ दिन करेगा आगे अनाज होगा बाद में मिलेगा तो लोग कोई प्रभुत्व तो होते कृषि करने के लिए करते कालांतर फलाने भी करते सेवा भी इस प्रकार सेवा करते फल मिलेगा महीना के बाद कोई साल के बाद सेवा करते नौकरी करते महीना के बाद फल मिलता है कृषि सेवा आदि वाणिज्य आदि करता है तुरंत नहीं मिला बाद में मिलेगा अभी खर्च करता है फिर बाद में लाभ मिलेगा ये सब जो कर्म है कालांतर फला दो प्रकार हो गए कारण क्रिया कौन सी क्रिया दो प्रकार हुए दिष्ट फला क्रिया दो प्रकार हो गई अनंतर फला और कालांतर फला तत्र अनंतर फला फला अपवर्गिनी एव जो अनंतर फला है फल प्राप्त होने पर क्रिया समाप्त हो गई भोजन कर से तृप्त हो गया आगे भोजन क्रिया चलती है नहीं गमन करके ज्ञान प्राप्त हो गया फिर चलना पड़ता है काल फल फले फलेन अपवर्ग नष्ट होने वाला फल से नष्ट हो जाएगी क्रिया उसका अर्थ क्या पलापर वर्गिणी है मैं फल उदयन अपवगो नाशो यस्याः क्रिया सा फलापवर्गिणी फल उदयन अपवर्ग अपवर्ग का नाश फल उत्पन्न हुआ क्रिया का नाश हो जाता है समाप्त हो जाती क्रिया वो क्रिया होगी फलापवर्गिणी फल देने से ही कर्म समाप्त हो गया भोजन करते खाते रहते पेट भर गया अब भोजन नहीं करेंगे गमन करते प्राप्त करेंगे पहुंच गए तो क्रिया बंद हो गई फलापवर्गिन हो गई कौन सी फलापवर्गिन कौन हुई दृष्ट फला में अनंतर फला अनंतर फला फलापवर्गिनी अर्थात फलदातारम पृथक न अपेक्षते न फलदातारम पृथक अपेक्षते न भाई फल देने वाले अन्य किसी का अपेक्षा है भोजन करने के बाद कोई फल देगा है और भोजन करना है कोई फल बांटते हैं वो नहीं फल भोजन का फल भोजन का जो फल है तृप्ति देने वाले कोई दूसरा है नहीं उस फल दातारन पृथक नापिचते तृप्त हो गया कानते ये हो गया कौन हो गया अनंतर फला और दूसरी कौन से कालांतर फला कालांतर फला किसका विभाग है दिष्ट फला का कालांतर फला तो उत्पन्न प्रध्वंसिनी कालांतर फलास याग आदि उत्पन्न प्रथम उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया याग उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया आगे स्वर्ग मिलेगा है में उत्पन्न सति फलम अदते प्रध्वंसते उत्पन्न हो गई याग फल नहीं दे करके याग नष्ट होता है नष्ट हो गया ततस्तत्र फलदाता कालांतरे अपेक्षति तर्थ तो फल देने के लिए याग नष्ट हो गया तो फलदाता कालांतर अपेक्षते कर्म करता है कृषि सेवा आदि कृषक घर में खेती में जाकर कर्म करता है नौकर काम करता है वो समाप्त हो गया शाम का आ गया क्या उत्पन्न प्रध्वंसिनी है या नहीं उत्पन्न प्रध्वंसिनी तो फिर फल कहाँ मिलेगा कर्म तो समाप्त हो गया आगे कैसे तो वहाँ से फल देने वाला कोई दूसरा है फलदाता कालांतर अपेक्षते मालिक फल देता है या सेवा करता अंत में फल देता है नौकर को ये ये हो गया कालांतर फल है कृष्ण सेवा आदि यागादि फलम कर्मादि अभिज्ञान दीयमानम व्यवहित फलत्वात् सेवा फलवत इत्याहति से अनुमान करना पड़ेगा सिद्धांत कहता है यागादि कर्म का फलम यागादि का फल स्वर्ग देगा कौन कर्मादि अभिज्ञान दीयमानम कर्म देश काल निमित्त जानने वाला देगा सेवा करने पर फल देता है मालिक वो जानता है ये कितने कर्म क्या कितने दिन कर्म क्या किस प्रकार कर्म क्या जान करके फल देता है कर्म नौकरी करने वाले किसको एक लाख मिलेगा किसको दस हजार मिलेगा किसको एक हजार मिलेगा अलग अलग या नहीं तो जानने वाला देखता है ये क्या कर्म करता है कितने दिन कर्म किया कितने दिन नहीं आया तो जान करके फल देता है इसी प्रकार फल जो मिलता है कोई जान कर देता है क्या करता है कैसे करता है जो उपासना करते हैं ना परमात्मा जानते हैं इसकी श्रद्धा कितने कितने दिन करता है कितने दिन आता है कोई कोई सोते आरती में नहीं आने पर किसको पता नहीं चल जाता है तो नहीं जाएंगे परमात्मा जानते हैं कभी आता है नहीं आता है वहाँ ठगना चालाकी चतुराई नहीं करना चाहिए वही क्या कहते चलो इधर अभी चल जाते तो किसको पता नहीं चला चल जाओ फिर आगे आ जाइए तो देखते आरती में समय थोड़ा पहले आ गए फिर चल जाओ फिर बाद में तुम आगे बैठ जाओ ये किसको पता नहीं चलेगा दूसरे को पता चलने के लिए नहीं ये उपासना के हिसाब से साधु करना चाहिए ऐसा करना चाहिए कि किसको पता चले नहीं चले परमात्मा को पता चलता है ये उपासना समझे नियम कोई बोझ समझ करके महिमन आरती आदि पाठ में ऐसा नहीं समझे ये अपने साधन उपासना के हिसाब से करे तो ईश्वर फल देते हैं वो यदि कहीं जबरदस्ती हमको कहते करना पड़ेगा मौका देखें किस प्रकार भाग जाने से नहीं कर चल जाएगा कितने बुद्धिमता है सबको पता नहीं चला हम महिमन के सामने घर में बैठ जाते हैं बड़ा बैठ कर क्या कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं जब कहेंगे हम ध्यान करते हैं नहीं तो हम कुछ हमारे कुछ कुछ ना कुछ कहेंगे ये नहीं वो सर्वत्र सींचना चाहिए कोई जानने वाला है जैसे कृषि आदि में जानने वाला फल देता है आप जो उपासना करते हो वहां भी जानने वाला फल देगा कोई को कोई कहता हमको फल नहीं चाहिए और फल नहीं चाहिए तो परमात्मा प्राप्ति फल तो चाहिए ज्ञान चाहिए अंतकोण शुद्धि चाहिए तो इसलिए ईश्वर की उपासना करते समय ये नहीं समझे किसको पता नहीं चलेगा और देखते हैं कौन कितने श्रद्धा से करता है कौन कब आता है और जा करके क्या सदुपयोग समय का कर देता है महिमा पाठ नहीं करता जाकर क्या करता है कोई कहते सेवा के नाम पर हम तो ऐसे सेवा करते अभी नहीं जाएंगे नहीं जाओ तो उसी समय क्या करते देखो उसी समय का दुरुपयोग होता है तो ये गलती है समय का सदुपयोग करने के लिए जो नियम महापुरुष ने रखा उसको पालन करना चाहिए इसलिए फल देने वाला देख करके फल देता है जो कालांतर फल है फल देने वाला अभिज्ञ कोई फल देगा अनुमान करते कैसे अनुमान करते हैं जागादि फलम कर्म आदि अभिज्ञान दीयमानम कर्म सदावती इस प्रकार यहाँ भी कर्म सदावती जानने वाले फल देता है इसलिए महिमनादि पाठ करते समय श्रद्धा पूर्व भक्ति के साथ एकाग्र होकर करने का प्रयास करें नहीं तो मन इधर उधर भागता है पाठ भी चलता है मन भी भागता है कभी कभी इधर उधर देखते ऐसा नहीं कोई कोई तो महिमा पाठ सूत्र लेकर पुस्तक लेकर पढ़ते रहते हैं कभी-कभी यहां नहीं कभी-कभी कोई पढ़ने वाले होते थे पुस्तक लेकर पढ़ेंगे ऐसा नहीं वो परमात्मा जानते हैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे कर्मादि अभिज्ञान दियमानम व्यवहित फलत्वात ए से आत्म सेवा फलादिवत ये अनुमान के द्वारा सिद्धांत भी सिद्ध करेगा ईश्वर की सिद्धि श्रुति स्मृति प्रमाण से जो निश्चित है उसमें दृढ़ निश्चय होने के लिए अनुमान प्रमाण सिद्धांत देगा ॐ आप्याय